सज्जनों ब्रह्मचारी आपने अपने जीवन को सफल बनाने के विषय में समाज राष्ट्र को उन्नत बनाने के विषय में विविध प्रकार से व्यवहारिक बातें और आध्यात्मिक सूक्ष्म योग से संबद्ध बातें सुनने का प्रयास किया है सामाजिक क्षेत्र में मिलकर के जो हम कार्य करते हैं उसमें व्यक्ति को चाहिए किन किन बातों को वहां पर प्रयोग में लाया जाए और किन किन बातों को बाधक रूप में जो आती हैं उनको दूर किया जाए एक प्रसंग ब्रह्मचारियों के संबंध में सुनाता हूं सभी ब्रह्मचारी मिल करके एक अनुशासन एक आदेश में आबद्ध होकर के चलें समस्त ब्रह्मचारी एक अनुशासन में रहे एक आदेश का पालन करें इससे जो उन्नति होती है समाज के स्तर पर वो दूसरे ढंग से नहीं होती अर्थात एक अनुशासन है उससे पृथक पृथक अपने विभाग बनाते जाते हैं एक और वर्ग बनाया उसका अनुशासक और है फिर एक और बनाया उसका अनुशासक और है वही तीन चार छह विभागों में बट गई अलग अलग अनुशासन का चलने लगा उस स्थिति में इतनी उन्नति नहीं हो सकती जितनी कि एक अनुशासन में हो यदि देखना हो तो आप ये जो लाखों लोग मिलकर के चलते हैं उसमें एक बात रहती है वो अनुशासन में रहते हैं अनुशासन का पालन करते हैं एक कारण है उनकी सफलता का उन अनेक कारणों में से एक कारण उदाहरण के रूप में जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था है देश और विदेश में लाखों लोग इनसे प्रभावित होते हैं मैंने सुना है किसी ने सुनाया कितनी भाषाओं में इनका अनुवाद चलता है जो विचारधाराएं पता नहीं तेरह भाषाओं में कितना सुनाया था मुझे पक्का पता नहीं है इतनी भाषाओं में इनकी विविध भाषाओं में अनुवाद होते हैं और देश विदेश में चलते हैं और अनुशासक इनका आदेश इनको आदेश देने वाला एक तो माता जी हैं जो यहां रहती हैं आबू पर्वत पर प्रकाशवती कुछ ऐसा नाम और एक माता बतलाई गई वो दिल्ली में रहती है अब वो अपना विचार करती है या ध्यान लगाती है जो कुछ योजना और कहती है मुझे ये आदेश ईश्वर की ओर से मिला है कोई मेरी अपनी कल्पना नहीं है और वो जो आदेश देंगी वो माता जी ये लाखों लोग तद अनुरूप कार्य करेंगे ननु नच कोई नहीं करता इतना अनुशासन रखते हैं लोग वो कहेंगे ये विशाल भवन जो है इसमें पांच करोड़ रुपया लगेगा ये सत्संग की आफल वो कहेंगे इसको बना दो दूसरा ननू नच करने वाला कोई नहीं वो बना देंगे ये अलग विषय है उसमें एक अंश है कोई कह सकता है कि वो इस अनुशासन का पालन अपने विचारधारा को चलाने के लिए करते हैं अपने मत को फैलाने के प्रलोभ से करते हैं क्या समझ में आया हुँ? हम्म? अपने मत को फैलाने के लिए इस प्रकार से करते हैं करते तो इतना तो करते हैं हमने मान लिया पर वो करते तो हैं अपना मत फैलाने के लिए वो जूझते हैं सब कुछ लगाते अनुशासन के बाहर नहीं जाना चाहते और और लोगों का अपने समेटते जाते लेते जाते उसमें यह है कि प्रेम मीठी भाषा से बोलना उनकी अच्छे से अच्छी सेवा करना तनाव की भाषा में बोलना उनको अपना मित्र समझ के उनके साथ रहना इतना आकर्षण करते हैं इतनी मधुर मीठी भाषा बोलते हैं इतनी उनकी सेवा करते हैं उसको झट अपना बना लेते हैं अपने में मिला लेते हैं पढ़ी लिखी लड़कियां बी ए डॉक्टर को बताते हैं उसके पास में जो संपत्ति है वो भी ले लेते हैं लड़की को भी ले लेते हैं ऐसे समेटते हैं अब यदि आप इन गुणों वाले नहीं बनते तो आप संगठित नहीं रह सकते संगठन नहीं बना सकते और उसके बिना ऊंचे स्तर पर कार्य नहीं कर सकते आपने सुना होगा ब्रह्मचारी सत्यवीर जी आर शुक्ल वडलूर आंध्र प्रदेश के हैं वो इंग्लैंड में जैसे प्रचार के लिए जाते हैं कहीं अमरीका आदि में बार बार जाते रहते हैं उन्होंने बतलाया कि इन पादरियों का इतना अच्छा संगठन है एकता है संगठित होकर के एक आदेश में और जो कार्य करना हो पूरे भारत में जहां भी करना हो सारे जूझते हैं उसके लिए और एक आदेश मिलता है इनके पोप का पंडित का गुरु का ये करो बस इसमें कोई कुछ नहीं अपने यहां अलग अलग टुकड़ी बना बना करके अलग अलग और वो अलग अलग करते रहते हैं तो वो वो बल शक्ति होती है और न समाज पर प्रभाव पड़ता छोटी छोटी टुकड़ियों का जैसा बहुत बड़े संगठन का पड़ता है जन समुदाय का शक्ति का वैसा छोटी छोटी व्यक्तियों के समुदाय का प्रभाव नहीं पड़ता व्यक्तिगत जीवन का निर्माण जैसे होता है वैसे समाज का निर्माण समाज को संगठित रखना उसको प्रभावित करना उसको मोड़ देना ये एक विद्या व्यक्ति के दिमाग में होती है उसका चरित्र होता है वो ऐसा करना जानता है आकर्षण उत्पन्न करता है यद्यपि इसकी धाराएं दो होती हैं एक धारा होती है निष्काम कर्म की धारा वो कोई धन के लिए मान के लिए पद के लिए ये संगठन नहीं बनाता वो निष्काम कर्म अपना धर्म समझता है ईश्वर का तो आदेश का पालन करना है मुक्ति प्राप्ति का ये साधन है एक तो संगठन का ये और एक मुझे मान मिलेगा धन मिलेगा पद मिलेगा इसलिए वो समाज का कार्य करता है तो आप तो कौन से रुचि रखते हैं निष्काम वाले में सकाम वाले में आप बोलेंगे है आप कौन से में रहते हैं आजकल तो सकामता रहती है पर जो सामने विचार है हाँ। मैं अच्छा मानता हूँ वो इस काम सिद्धांत के रूप में हाँ जी कितना मात्रा रहती दोनों सकाम सकामता हाँ जी आप बोलिए लगभग पचास प्रतिशत तो निष्कामता रहती है आधा आधा हो जाता आप बोला दोनों ही भाव रहे दोनों के समान तो नहीं ज्यादा आपका हाँ जी आपका बोलो विचार नहीं विचार ही नहीं किया तो फिर इस केंद्र विचार न करने से तो भाई इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है जब दो का निर्णय होगा तो खराब को तो छोड़ दे जाएंगे अच्छे को वो डाटे जाएंगे तो ऐसे निर्वाचन कैसे करके आगे कैसे बढ़ जाओगे हाँ जी बोल रहे हैं जी उदय की हाँ जी हाँ जी समय हाँ जी धर्मवीर जी अच्छा और जी आपका बराबर बराबर रहता है अच्छा अच्छा ये बतलाओ आप इसको निष्काम कर्म को अधिक मात्रा में बढ़ाना अच्छा समझते हैं या सकाम कर्म को Hmm? अच्छा समझते और निष्काम कर्म करने से क्या लाभ होता है कौन बताएगा मोक्ष और सकाम कर्म करने से सकाम कर्म करने से अगले जन्म की और मतलब सुख मिलता है स्वर्ग मिलता है तो मोक्ष नहीं मिलता अच्छा आप में से मोक्ष कौन कौन चाहते हैं हाथ खड़ा करो मोक्ष कौन कौन चाहते हैं अच्छा कोई ऐसा भी है जो मोक्ष नहीं चाहता हो नहीं कोई तो वो जो एक मैंने बात कही एक ढंग सारे एक संगठित एक संगठन में मिलकर के चलते हैं एक स्थिति है ये एक स्थिति है दूसरी स्थिति कभी कभी एक ही लक्ष्य एक ही सिद्धांत होते हुए सारे मिलकर के नहीं चल पाते उद्देश्य एक दिखता है सिद्धांत एक जैसे हैं और वो कुछ कारणों से एक व्यक्ति अपने ढंग से काम करता है एक व्यक्ति अपने ढंग से काम करता तो एक अनुशासन में रह के दो अलग अलग अनुशासन बन गए अर्थात आप यहां के अनुशासन में न रह के अपना अलग से कार्यक्रम बना लिया ये काम अब तो समझ में आया अरे बना लिया अब पहले तो ये स्तर था एक संगठन में रहना सबसे उत्तम है दूसरी स्थिति जब बदलती है एक व्यक्ति कहता है हम तो आधुनिक पाठ्यविधि से कुछ मिला जुला के करेंगे एक कहता हम तो आदर्श रूप में यही पाठ्यक्रम रखेंगे जो स्वामी जी ने विचारधारा बदली कुछ तो अलग अलग संस्था चलाई या अलग अलग संगठन बनाए उसमें एक बुद्धिमत्ता काम करती है उसमें भी करती है वो क्या करती है वो जो अलग संगठित होकर काम करने लगे हाँ जी तो परस्पर उनका क्या संबंध होना चाहिए या हो सकता एक दूसरा दूसरे को पूरी सहायता देता है यद्यपि दूसरा अपनी शैली से करता है कुछ और दूसरा अपनी शैली से करता है पर वो एक दोनों दूसरे को पूरी सहायता देते हैं पूरा सहयोग देते हैं विरोध कभी नहीं करते क्या समझ में आया आपने यहां तो संगठन में रह के सहयोग नहीं दिया कल्पना पर कहते आज कार्य मैं यही करूंगा आपने एक दूसरा विद्यालय खोला और उसमें यही कार्य करने लगे ठीक हो गया उस स्थिति में आप तन मन धन से इस संस्था की सहायता वैसे ही करते हैं जैसे अपनी ये संस्था भी आपकी वैसे ही सहायता करती है दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं अलग अलग संगठन अलग अलग अनुशासन समझ में आई या नहीं आई यदि अलग अलग भी करते हैं तो ऐसा स्तर तो कम से कम रखना चाहिए या नहीं रखोगे है एक बात तीसरी बात और कभी कभी वो परस्पर एक दूसरे को अपनी संस्था की बात या सहयोग नहीं देते एक दूसरा दूसरे को सहयोग नहीं देता परंतु सहयोग नहीं देते पर विरोध भी नहीं करते अब क्या समझ में आया नहीं आ रही रेखा रूप रेखा समझ में क्या आ रही है बताओ व्यक्ति सहयोग नहीं देता किंतु विरोध भी नहीं करता विरोध भी नहीं करता ये तीसरा स्तर है सर नीचे गिरता जा रहा है फिर चौथा स्तर वो उसका विरोध करता है वो उसकी कान खींचता है दोनों का संघर्ष यहां रहता है और दोनों मर्दे कटते रहते हैं तीसरा आके राजा बन जाता है अब क्या समझ में आया चौथा स्तर चौथा स्तर यह है कि एक व्यक्ति दूसरे का विरोध करता है वो इसका विरोध करता है और आपस में झगड़ते हैं और किसा करके अच्छा आप चारों में से कौन से को अपनाइए बोलो आप अभी भी फिलहाल दूसरा वाला आप बोलो है बोलते रहिए आप बोलो अभी संस्था चलाने का विचार नहीं किया है अच्छा आप कोई विचार नहीं नहीं कौन से मत रहे तो ये संस्था ने चला तभी तो संगठन में रहना रहे एक अब तरह ना संस्था एक अलग विभाग है व्यक्तिगत प्रचार करना व्यक्तिगत अपने कार्य करना लेखना वो व्यक्तिगत भी उसके अंतर्गत है संस्था चलाए या व्यक्तिगत ये तो है ना आप बोलो आप जैसे क्या आपने अभी किया मैं समझ ही नहीं पा रहा यदि हम संस्था नहीं चलाएंगे तो फिर आपका क्या उसमें मतलब आदेश आप यहां से पढ़ के चले गए आप हमारे साथ असंबद्ध नहीं अलग संस्था नहीं पर प्रचार करते हैं अपना हाँ, हाँ, तो ये ये धाराएं है ना एक तो संस्था चलाता है और वो सहयोग देता है पूरा अब परस्पर दोनों सहयोग देते हैं चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो ये दूसरे स्तर पर है चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो काम करने वाली वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं मैं अलग रहूंगा स्वतंत्र रहूंगा संस्था प्रयत्न करूंगा कि संस्था के किसी चक्कर में न फंसू और गुरुजनों से बीच बीच में निवेदन करता रहूं सलाह तीसरी विचारधारा में ये बतला था कि एक सहयोग तो दूसरा देता नहीं और विरोध भी नहीं करता आपको ये धारा तो समझ में आई या नहीं आई ऊंची धारा पहली है उसे निम्न स्तर की दूसरी है उसे निम्न स्तर की चौथी तो नितांत ये है चौथी तो नहीं कर बैठोगे ये बताओ है चौथी तो नहीं करोगे जैसे व्यक्ति संगठन बनाना चाहता है और वैदिक परंपरा को हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में वो संस्थापित हो चले उसके लिए उसको त्याग करना पड़ता है अपना स्वार्थ को ठोकर मारनी पड़ती है बहुत सहन शक्ति चाहिए व्यक्ति यदि सहन शक्ति नहीं है और परोपकारी नहीं है स्वार्थी व्यक्ति निर्भिमानी व्यक्ति है अभिमानी बुद्धि का स्तर का अच्छा नहीं है विचारने का झगड़ालू स्वभाव वो व्यक्ति जो है कभी संगठित होकर अपना दूसरों का भला नहीं कर सकता आप में जैसा स्वभाव किस चीज का है आप बोलेंगे है या नहीं आप बताओ अपना है हाँ जी बोलो हाँ मैं जी प्रयास हूं क्या ऊंचा बोला करो है उसको उसको दूर करने का हाँ जी हाँ जी हाँ कैसा सुना नहीं अच्छा हाँ जी आप बताओ हाँ जी आप बोलो तो उसको कब दूर कर दोगे हाँ हाँ जी वर्ण जी हाँ जी धर्मवीर जी आपको कभी ये ध्यान में नहीं आता आप ऐसा कभी मंथन विचार नहीं करते कि यदि हमें अपने आप को विद्वान शक्तिशाली तपस्वी योगाभ्यासी बना करके और अपना संगठन बनाएंगे अनेक लोगों को तैयार करेंगे गुरुकुल के माध्यम से प्रचार के माध्यम से तो वैदिक परंपरा सारी लुप्त हो जाएगी और अन्य मत मतांतर छा जाएंगे वो छा चुके हैं और छा चुके हैं तो मानते हैं आप नहीं मानते आपका क्या अनुभव है नहीं छा चुके हैं मानते नहीं मानते तो आप कभी योजना ये नहीं बनाते हम इतने विद्वान बनेंगे योगाभ्यासी बनेंगे पूरी तैयारी करेंगे और सारी इन अंध परंपराओं को कुरीतियों को खाड़ के फेंकेंगे और किन साधनों से फेंकी जा सकती हैं अपने साथी तैयार करेंगे संस्था चलाएंगे विद्वान बनाएंगे साहित्य लिखेंगे प्रचार करेंगे क्रियात्मक योग सिखाएंगे ऐसे ऐसे आप कभी सोचते या नहीं सोचते या थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के अपने घर जाएंगे फिर नौकरी करने के लिए आप कुछ आजकल की डिग्रियां लेंगे कौन सा विचार है आपका आप बोलो समाज ऊंचा बोलो समाज और देश के लिए कुछ करने का विचार परिवार के साथ तो आपद नहीं होंगे दोबारा आप बोलो तो कौन सा सेवा अच्छा देश की सेवा अंग्रेज में जाके करोगे या सीधे ब्रह्मचर्य से है आप बोलो पहला वाला बताया कौन सा समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना हाँ जी समाज राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करना हाँ या परिवार परिवार का काम करिए अपना हमारा इसमें विचार बनता समाज राष्ट्र आप बोलो जी समाज राष्ट्र ने काम करने का अभी विचार पक्का नहीं बनाया है अच्छा पहले लक्ष्य की ओर बढ़ना उसके बाद फिर विचार करेंगे कि समाज में सेवा करना है या न करना है अच्छा उसमें ये सोचेंगे भाई परिवार के साथ जुड़े या समाज के साथ कुछ करें ऐसा समाज के साथ जुड़ने का ही विचार है आगे चलकर लेकिन पूर्व तो ये विचार है कि पहले लक्ष्य की प्राप्ति की जाए न उसमें निषेध नहीं है उसका निषेध नहीं कर रहे हम लक्ष्य तो आपने प्राप्त करना ही करना है दो धाराएं होती हैं लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक जोर लगेगा अब कुछ समाज का भी काम करते रहेंगे जब पूरे तैयार हो जाएंगे अपने लिए कम करेंगे समाज के लिए अधिक करेंगे मोड़ इतना देना पड़ता है ये शैली तो प्रमुख है अब अपनी प्रधानता रहेगी जब तक आप अच्छे विद्वान योगाभ्यासी में पर समाज का भी काम करेंगे मात्रा उसमें जुड़ी रहेगी निष्काम भावना से समाज का भी एक स्तर में काम करते रहेंगे और जब अपनी पूरी सज्जा तैयारी हो जाएगी अपने लिए तो कम रह जाएगा कार्य और समाज के लिए प्रमुख हो जाएगा जैसे महर्षि ने पांच वर्ष पीछे फिर जाके तप किया था फिर समाज के लिए पहले समाज में इतना काम नहीं किया उन्हें देखा भी तो कमी रह गई है आनंद जी आप स्वामी जी पूरे जीवन ब्रह्मचारी रहकर हाँ धर्म समाज और मुख्य रूप से आर्य समाज के लिए काम अच्छा हाँ जी विश्वेश जी परिवार के साथ जुड़कर यथा सामर्थ्य समाज सेवा करने का प्रयास करोगे अच्छा उसमें व्यवसाय करते हुए समाज का काम करोगे या विद्या का उपदेश देना कई समाजों में जाना और आर्य समाज का कार्य करना फिर घर का करना ये प्रिय लगता है या व्यवसाय करते हुए पूरा निर्णय लिया है अभी उनमें से दोनों में से हाँ तो आपको धन प्रिय लगता है या विद्या प्रिय लगती है दोनों में से कभी कभी दोनों के पक्ष भाई लेता कभी विद्या प्रिय लगती है <laughs> अच्छा अच्छा हाँ जी आप बोलो कैसे करोगे आप हाँ जी वरुण जी हाँ, ऊंचा बोला करो हाँ हाँ जी आप आप समाज के कार्य को प्रमुखता दूंगा हम्म। और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का विचार है हाँ वैसे आपके मन में ऐसा तो नहीं रहता चलो भाई कुछ पढ़ पढ़ा के फिर अपना दो बार अपना घर है बार चलाए ऐसा तो नहीं रहता हाँ जी उदय जी अच्छा हाँ जी धर्मवीर समाज अच्छा विशेष ये बताओ वहां अग्रह स्मर के अधिक संसार का उपकार कर सकता है या आजीवन ब्रह्मचारी रह क्या कर सकता है सिद्धांत की दृष्टि से आजीवन वाला ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा एक बात है आप पहले योगाभ्यास करो खूब दर्शनों को पढ़ो पढ़ाओ और योगाभ्यास करते जाओ और एक आता है एक 25 वर्ष का ब्रह्मचारी होकर विवाह करवाता है एक आगे 28 एक 30 एक 35 एक 40 आदि आदि और अंत में 48 वर्ष का होकर विवाह करवाता है 48 वर्ष तो खूब पढ़ो पढ़ाओ फिर विचार कर लेना गृह में जाना है या नहीं जाना ये भी तो मार्ग है ना अच्छा एक सीमा बना लो भाई अड़तालीस का तो आपको अधिक लगेगा चालीस पर आ जाओ उसको चालीस का अधिक लगे तो पैंतीस पर आ जाओ व्यक्ति तीस पे आ जाओ भाई अनुभव तो जब होगा ना जब पढ़ोगे खूबियोगे तो आएगी आनंद आने लगेगा और अपनी बुद्धि इतनी बन जाएगी कौन सा मार्ग मुझे पकड़ना चाहिए वो सत्यजीत जी थे यहाँ आए शिक्षण से उन्होंने ऊंची डिग्री जो आयुर्वेद की और वो अट्ठाईस वर्ष के हो गए थे माता जी उनके विवाह के लिए लालायित थी पिताजी की विचारधारा दूसरी रहती थी कि ब्रह्मचारी विद्वान बने तो यहाँ आने पर परिवर्तन आया फिर प्रश्न उत्तर उठे बहुत से उठे तो सारे प्रश्न उत्तर उठाए तो उनकी सारी बातों का उत्तर दिया कि आप गृह जो जा रहे हो इसमें कहां सुख है आज के गृह बताओ तो सारी बातें उभर के आई तो कहने लगे मैं विचार करूं फिर कई मास के पीछे तपोवन में आए हो वहां फिर विचार किया अब बताओ मैंने कहा हिम्मत सारे में चौपट हो जाओगे आप विवाह करवा बताओ क्या है कहेंगे अच्छा आज से मैं निर्णय करता हूं तीन वर्ष सारे विकास में रहूंगा दर्शनों का दर्शना का अध्ययन योगाभ्यास फिर मेरी इकतीस वर्ष की अवस्था हो जाएगी फिर निर्णय करूंगा विवाह करवाना वो सारा पटपट आगे अच्छे बुद्धिमान है खूब परिश्रम करते हैं अब कहते हैं ब्रह्मचारी ही रहना भाई इकतीस वर्ष तक आप पट पढ़ा लो फिर मन में आए तो करवा लेना ठीक रहेगा ना क्यों ईश्वर ऐसे करो ये करने का ढंग है बिना परीक्षा के कोई पता नहीं चलता आपने इस जीवन में आनंद से रह के नहीं देखा तो क्या पता चला इसमें आनंद है या उसमें आनंद है नहीं समझे मेरी बात क्या मेरी बात क्या समझे आप इस जीवन में जो आनंद से रहना नहीं सीखा है उसको क्या पता उसमें आनंद है या इसमें आनंद है इसमें आनंद से रहना सीख लो पहले इसमें फिर पता लगाना उसमें अधिक आनंद है या इसमें तो एक तो ये प्रकार बतलाया मिलके काम करने के ढंग तीन पद्धतियां तीन अलग अलग चौथी का तो परित्याग कर देना चाहिए कम से कम तीन तक सीमा रखनी चाहिए उल्टा नहीं कर देते दूसरी बात मिलकर के कार्य करने में क्या क्या सहन शक्ति चाहिए निर्भिमानता चाहिए परोपकार की भावना स्वार्थ का परित्याग तप त्याग चाहिए दूसरे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है आप लोग बाहर से आते और हम पढ़ाते हैं ये जितने भी पढ़ाए गए ये सारा वर्ग है पहला वर्ग था अपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी वाला फिर दूसरा ये आते रहे पढ़ाते रहे ऐसे करते रहते इनमें से यदि आरंभ में हम देखने लगे इनमें क्या दोष है क्या गुण है और परीक्षण करेंगे तो उच्च स्तर के नहीं सबको भगा देते इनमें कोई नहीं चलेगा इनके दोषों का सहन करते हैं इनकी सब प्रकार की सहायता करते हैं तन मन धन से लगे रहते हैं तब ये इतने संगठित होते हैं ऐसे नहीं हो सकते या नहीं समझे आप मेरी बात है जी है जी कितनी सहन शक्ति चाहिए कितना त्याग चाहिए बौद्धिक स्तर पर इनके प्रश्नों का उत्तर भी बहुत अच्छा देना चाहिए नहीं तो वो नहीं जमेंगे है जी तो ये दूसरों को साथ जोड़ के अपने साथ मिलाना उनका निर्माण करना इस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति में होती है सब में नहीं होती परंतु वो उत्पन्न की जा सकती है नहीं है तुम अगर अच्छा, आप मिलकर रहने का कुछ कैसा प्रयास करते हो कभी तनाव होता आपके अंदर बीच बीच ब्रह्मचारियों आनंद जी बोलेंगे नहीं होता यहां तो बहुत अच्छी स्थिति है अच्छा लगभग नहीं होता तो इसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते है जी सहन शक्ति इतनी बढ़ाई जाए कि कुछ विपरीत स्वभाव वाले को भी अपने साथ रखा जाए या नहीं हाँ, ठीक है अब अपने अधिकारी बैठे ये दूसरी संस्था है <laughs> कृष्णानंद यार ये रतन सिंह भाई आदि बैठे हैं ना इनमें भी कुछ ध्यान हमको रखना है मान प्रशासन में तैयार हो गया है प्रचार खूब हुआ लोगों ने सहयोग दिया अपने विद्यालय का प्रचार देश विदेश में हुआ और दर्जनों ब्रह्मचारी भारत के जिस कोने पर जाते उसका विशेष प्रभाव है उन ब्रह्मचारियों का अपना अपना मैं उस ओर गया किसी का किसी ढंग का जैसे उस ओर में गया इसके अंदर देहरादून की ओर गया तो भाई ये विश्वंग जी थे इनके विषय में जैसा सुना तो उनका प्रभाव प्रवचन देने की बहुत अच्छी ढंग शैली थी जिसे लोगों पर प्रभाव पड़ता था कि भाई ये ब्रह्मचारी कैसे बोलता है ऐसे कोई योग शिक्षण देता है बड़े ढंग से सिखाता है उसका प्रभाव उसके ढंग से होता है कोई पढ़ाता बहुत अच्छा है भिन्न भिन्न विषयों में व्यक्तियों की अपनी अपनी योग्यताएं उन योग्यताओं को व्यक्ति लेकर के खूब प्रचार करता है और इसी प्रकार से अपनी संस्थाओं में बान प्रस्ताश्रम है इसमें एक होते हैं साधारण दिमाग के व्यक्ति वो इस कार्य को नहीं समझते उनके दिमाग में नहीं बैठती ये बातें वेदों के विद्वान बनो दर्शनों के विद्वान बनो योगाभ्यास सिखाओ साहित्य प्रकाशित करो देश जाति के लिए जो है तनमन धन लगा के अपनी भारत की स्वतंत्रता को बचाओ आदि आदि नहीं रहते बस छोटी छोटी बात <laughs> छोटी छोटी बातों में उलझते हैं और बातों में उलझ करके क्या कहने लगते हैं कि भाई बात है यहां कुछ नहीं हो रहा ये तो यूं ही दो चार साधु बैठे हैं और ये खाते पीते हैं करते ही कुछ भी नहीं करते है तो बड़ी सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी अपने कार्यकर्ताओं को इसमें कई एक बातें होती हैं एक बात तो ये होती है इसके लिए त्याग की आवश्यकता पड़ती है आप में से अधिकारियों में से जितने भी हैं जितना इसलिए समय देंगे और परिश्रम करेंगे उतनी उतनी इसमें सफलता मिलती चली जाएगी परिश्रम कम होगा समय कम होगा तो उतना उतना ढीला बनाता चला जाएगा समय चाहिए याद चाहिए और इस धन के जितने व्यक्ति अधिक होंगे वो आगे ले जाएंगे और बीच में बिगाड़ने वालों को वो आगे नहीं बढ़ने देंगे बढ़ेगा ही नहीं वैसे बढ़ते जब है जब ढीला छोड़ देते समय नहीं देते परिश्रम नहीं करते तो उल्टे दिमाग वाले व्यक्ति को खराब करते हैं बिगाड़ते हैं दिमाग बिगाड़ते बिगाड़ते फिर उसमें परस्पर कई दल बना लेते हैं तनाव पैदा करते हैं फिर सभी लोग उब जाते हैं बाहर के लोग इन बातों को सुनते हैं तो सहायता देना छोड़ देते हैं इसलिए ऐसी विचारधाराएं उभरने नहीं देनी चाहिए और एक ढंग कोई बातें चलती हैं जो उल्टी सीधी होती है उनको सुनना धैर्य से पर सुनते ही नहीं मानना चाहिए जो बात आई किसी ने सुनाई उसको लेकर के सबके सामने रख देते हैं ये बात इस रूप में आई है इसमें सत्यता क्या है क्या नहीं है उनका निर्णय कर दिया किसी का किसी पर संदेह नहीं रहा वो बात गलत थी उसको हटा दिया यदि इसको सामने रख के सुलझाया नहीं जाए तो वो सबके दिमाग को खराब कर दी जाएगी और सबका दिमाग उल्टा सीधा होगा फिर अलग अलग सोचना आरंभ कर देंगे शक्तियां बढ़ जाएंगी और ये तमाशा बना देते हैं जैसे तैसे संगठन किया इतनी शक्ति बनाई इतना कार्य हो सकता था वो सारा छिन्न भिन्न कर दिया आज का प्राय व्यक्ति का दिमाग अच्छे कार्य को छिन्न भिन्न करके स्वयं मान या अधिकार प्राप्त करने की सोचता है भारत का दिमाग तो मुख्य रूप में इसमें लगा हुआ है अच्छा कार्य हो रहा हो भले ही पर उसको पद नहीं मिले अधिकार नहीं मिले या धन नहीं मिले तो उसको बिगाड़ने की चेष्टा करता वही वो तीसरा पक्ष था ना भाई शायद नहीं दो पर बिगाड़ो मत वो भी नहीं अपनाता मतलब तीन पक्ष रखे थे ना भाई काम ठीक हो रहा है हमारा कोई भेद है इसलिए हम इसको बिगाड़ने की वो यहां तक नहीं वो बिगाड़ने की शक्ति लगाता है जैसे पहले चलता रहा कितना लंबा चौड़ा पत्थरों के माध्यम से अब भी एकाध होता रहता है वो बिगाड़ने की बात वो सोचता है प्राइवेट व्यापक रूप से बिगाड़ने का दिमाग बनाया और ये बिगड़ते बिगड़ते ऊपर तक बिगड़ता चला गया क्योंकि व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता नहीं योगाभ्यास वो नहीं करता यम नियम का पालन नहीं करता उसने मुक्ति को लक्ष्य नहीं बनाया उसने राष्ट्र को नहीं देखा राष्ट्र की क्या स्थिति होगी वैदिक संस्कृति कहां जाएगी यदि हम आपस में झगड़ते रहे तो वो दिमाग ही नहीं केवल व्यक्तिगत बात सोचता है मेरी मेरे मेरी मान्यता कैसे आए मैं अधिकारी कैसे बन जाऊं मुझे लोग अच्छा देखें वो अच्छा क्यों दिखता है हमारे सामने हमसे ऊपर होके क्यों आता है वो इससे व्यक्ति अपनी सारी शक्ति कुंठित कर देता है और समाज का ढांचा बिगड़ता है ये भारत की जो आज स्थिति है जो हम देख रहे हैं इसमें एक एक भाग को आप देख के सोचेंगे ना तो अनेक अंशों में भारत पराधीन हो चुका है कभी पढ़ना हो राजीव दीक्षित जी की पुस्तक पढ़ना उनके कैसेट सुनना और कैसे उन्होंने कैसे हम पराधीन हुए थे ये और आज हम कितने पराधीन हो चुके हैं ये दूसरा भाग इस रूप में उन्होंने कितनी खोज की है बड़े युवक है वैज्ञानिक है और उस जैसे यदि हजार हो तो भारत का सारा चित्र ही बदल जाए वो वो क्षेत्र उनका अपना समाज से और कुछ व्यवसाय राजनीति से संबद्ध है अपना ढंग है उस स्तर के युवक एक वो बनेगा जैसे क्रांतिकारियों का होता है और अपना बहुमत बना के और सारे राजनीति के उल्टे विधानों को बदलने वाला और जो विदेश के लोग हमको लूट रहे हैं वो सारा चित्र खींचता है उसका कैसे विदेशी लोग हमको लूट रहे हैं और विदेशियों के इन लुटेरे से छुटकारा हम पा जाए तो हमारा भारत कहां चला जाएगा और भारतीय लोग भारत को कैसे नीचे गिरा रहे हैं एक एक रूपरेखा सारी हुई इतने विषयों में भारत पराधीन हो चुका है अर्थव्यवस्था में पराधीन संविधान बनाने में पराधीन एक एक बताता है व्यक्ति सुनकर के आश्चर्य पड़ता इतना पराधीन हो चुका पता ही नहीं बीच के लोगों को तो जैसे एक विषय दिया उन्होंने बताया अवैधानिक रूप से अन्याय के रूप में भारत के लोगों का नेताओं का गद्दीधारियों का या राजकीय बड़े बड़े अधिकारियों का धन विदेश के बैंकों में इतना अधिक है यदि उसको राष्ट्रीय संपत्ति बना के घोषित कर दिया जाए तो भारत में जितना व्यक्ति पर कितना ऋण है एक व्यक्ति पर वो सारा समाप्त हो जाए केवल एक भाग उनका अन्यायपूर्वक जो विदेश में धन उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाएगा एक एक विषय में अच्छा विदेशियों की जो कंपनियां हैं जो आजकल जो चलती चलाती उसका उनका एक एक जैसे ये भोपाल की जो गैस कांड था ना उन्होंने कहा ये कोई गैस निकल नहीं गई थी सारी खोज हुई है ये निकली नहीं थी भाई असावधानी से निकल गई आनी होगी नहीं कितने व्यक्ति इस गैस से मारे जाते हैं अमेरिका की खेसीत जाते वो कंपनी अमेरिका की थी ना यूनियन कार्रवाई हाँ।, हाँ जिसकी भी थी उसने जानबूझ करके गैस छोड़ी थी कि इस गैस से कितने मर सकते सोलह हजार कितने व्यक्ति मरे थे और वो पकड़ा गया बात सारी जानी गई और सरकार को पता चल गया पता चल गया तो उनको दंड बहुत कठोर दंड मिलना था तो उस कंपनी ने सरकार को धन दे दिया सरकार ने अपनी सरकार चलानी है सत्ताधारियों ने सरकार दी थी दंड देना और उनको ये कर लेना ये कोई बात नहीं उनको धन दे दिया तो वो सारे बच बचा गए जैसे तैसे करके कोई दंड विधान नहीं कोई खास बात ही नहीं हुई भाई और ये ऋण लेते उन्होंने कहा ऋण ले लेते हैं तो दे नहीं पाते ब्याज इतना दुगना तिगना कितना हो जाता है और उसके ऊपर जो कोई नियम लागू करते हैं विदेशियों पर कि इनकी वस्तुएं इस मूल्य में नहीं बिकेंगे इसमें इतना कर लगेगा संविधान बनाने की तैयारी होती है लोकसभा में जब धमकी देते हैं अमेरिका जैसे देते या दूसरे कि यदि आपने संविधान बनाया हमारा ऋण जो पहले चुका फिर संविधान बना सकते नहीं तो नहीं वही न्याय वो संविधान बनेगा ही नहीं बनेगा कि विदेश की वस्तुओं पर कर लगाया जाए या इतना लगाया जाए एक एक विषय को उन्होंने छान छान करके पूरा सामने रख लिया है पर याद रखना तीन बार तो उसके पराक्रम हो चुका है गोली का कंका छोड़ेंगे नहीं ये अच्छे व्यक्तियों के ऊपर ऐसे स्वार्थी और अज्ञानी लोग दो तरह के टोल होते हैं अच्छे व्यक्ति को जीने नहीं देते और इतनी बार आक्रमण हो चुका है और वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है हमारे पास में जब उनका संबंध होता है आते जाते मैं कहा वैदिक धर्म मैं सिद्धांत को बहुत श्रद्धा रखते हैं और मैंने कहा आप योगाभ्यास के साथ जोड़ो नहीं तो आप लुट के जाओगे सम्मान में लुट के जाओगे कहीं पदों पर लुट के जाओगे इसलिए योगाभ्यास साथ जोड़ो और मुक्ति को लक्ष्य बनाओ समाज का कार्य करते रहो तो ऐसे ऐसे योग तैयार किए जाते हैं अब वो कितने युगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और ये हस्ताक्षर करवा रहे हैं जो ये ये धन राष्ट्रीय घोषित किया जाए चालीस लाख या कितने का हस्ताक्षर करा चुके हैं इसके ऊपर एक करोड़ पर जाना चाहते हैं और फिर कहेंगे कि भाई इतने व्यक्ति जो है इस धन को राष्ट्रीय धन घोषित करना चाहते हैं ऐसे और हस्ताक्षर में वो लगे हुए तो उस ढंग के जो युवक होते हैं वो उस ढंग से करें ये इस ढंग के आध्यात्मिक विद्वान लेखक शास्त्रार्थ करने वाला ये एक ब्राह्मण वर्ग होता है वो क्षत्रिय वर्ग होता है यदि इनको ऐसे तैयार किए जाए किया जाए तो कितना कुछ हो सकता है तो अपनी संस्था के जो अधिकारी बैठे बहुत सावधानी से रहे और इधर उधर की बात सुन के कभी न माने सबके सामने बात रखो तो उलझन पैदा करती है वो कहां से चली क्यों चली उसको हटा दो और संगठन को इधर उधर नहीं होने देना सहन शक्ति रखनी चाहिए कुछ समय अच्छा लगाना चाहिए जो अधिक कार्य करता है उसकी बात अधिक मानी जाती है आप समय जानते हैं अधिक समय लगाता है उसकी बात अधिक मानी जाती है क्योंकि वही काम करता दूसरे तो कभी कभी आते हाथ और घरों के कार्य जिसके घर के हो चुके उनको अधिक समय यहां लगाना चाहिए जिनके घर के कार्य भी विशेष विशेष है वो घर के करते हुए समय समय पर समय लगाए और वो धन से भी सहायता करते हैं और बीच बीच आके सहायता करते हैं इस रूप में लगे रहना चाहिए तो बिगाड़ने वाले लोग जो है वो नहीं देखते राष्ट्र को वो नहीं देखते समाज को वो नहीं देखते व्यक्ति को वो नहीं देखते बाकी स्वाधीनता पराधीनता को उनका दिमाग ऐसा ही होता है तो इसलिए अपनी इन संस्थाओं में बड़ी सावधानी से हमको काम करनी चाहिए और इस रूप में हम करेंगे तो बिगाड़ने वाला वर्ग सफल नहीं हो पाएगा और नहीं तो बिगाड़ने वाला वर्ग तो तैयार रहता है वो अपनी योजनाएं होती है उसकी तो उसको सावधानी से देखना और बातें उभरती उनको नहीं आने देना और सोचने का ढंग है मिलकर के सोचो अकेले अकेले सोचने में वो बात विकृत हो जाती है फिर आपस में मानसिक स्तर मानसिक मोटाव उसमें हो जाता है मानसिक तनाव फिर व्यक्ति मिलकर काम करने की इच्छा छोड़ देता है कोई फिर काम को ही त्याग देता है क्यों काम का ही झगड़े में पड़े ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हम ऐसे सोचते हैं झगड़ा नहीं है हमें ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं यदि हम हाँ ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ये सोचने का ढंग हम बदलते हैं अपना ईश्वर का आदेश कुछ ना इसमें आएंगे आ सकती है तो उनको सबको करते हुए हम आगे बढ़ते जाए और ईश्वर से ब्रह्मचारियों का वर्ग है उनके लिए बतलाया विद्वान योगाभ्यासी त्यागी तपस्वी बनते हैं फिर अपने जैसे तैयार करते हैं वो वर्ग है ईश्वर अधिकारी हम मान प्रस्थाश्रम में हमारी जो योजनाएं चलती है ना मैं सुनाता हूं एक ब्रह्मचारियों के ऊंचे स्तर के ब्रह्मचारी के देना ये अपना दर्शन महाविद्यालय एक विभाग बनाता हूं इससे नीचे का स्तर है बड़े ब्रह्मचारियों का वो आर्स गुप्त सुंदरपुर रोहतक के पास में है वो इससे पहला स्तर है जो व्याकरण आदि पढ़ता है व्याकरण आदि में तैयारी करता है योगाभ्यास वहां भी एक एक घंटे का है सिखाने का आर्स गुप्त सुंदरपुर रोहतक के पास में तीन किलोमीटर दूरी है और मैंने कहा एक हमारा ही दूसरा वर्ग है जो गुरुकुल वहां ये एक दूसरा है एक अपने ब्रह्मचारी रवि जी जो है वादारी पद पर जो पांच वर्ष नहीं आठ वर्ष से लेकर बारह वर्ष के ब्रह्मचारी को तैयारी में लगे हुए बाल्यावस्था के आदर्श बनाएंगे उनको जैसे अजमेर में मन का ये हमारा तीसरा वर्ग है मानव निर्माण का और बानप्रस्थ आश्रम हमारा चौथा वर्ग है गृहस्थियों को तैयार करने वाला प्रत्येक प्रांत में एक एक आश्रम कम से कम गृहस्थ वाला गृहस्थियों का बानप्रस्थ के रूप में हो और उसी में गतिविधि से दो चार वर्ष का पाठ्यक्रम रखा जाए महर्षि के ग्रंथ और योगाभ्यास प्रशिक्षण और उसमें संस्कृत भाषा का एक भाग फिर दर्शनों का दो चार दर्शन पढ़ाए जाए और फिर वो इंग्लिश जानता हो तो इंग्लिश ही माध्यम में प्रचार कर सकता देश विदेश में तो इस प्रकार की यदि योजना हो तो प्रत्येक प्रांत में कहीं एक कहीं दो आश्रम हो तो उसमें हजारों लोग तैयार हो सकते योजनाबद्ध उनको पढ़ाना सिखाना चाहिए बांध पर लेने मात्र से तो साधारण स्थिति होती है और विधिपूर्वक विद्यार्थी की तरह तैयार करो जैसे दूसरे मत वाले एक एक स्नातक को ब्रह्मा कुमारी एक एक व्यक्ति को तैयार करते हैं फिर उसको प्रचार के रूप में छोड़ते हैं इसी प्रकार ये ना कौन सा मिशन है विवेकानंद जी वाला ये, ये बारह को लेते हैं बारह पास को या दस को लगन फिर को तैयार करते हैं तैयार करके फिर प्रचार के रूप में देश विदेश में इंग्लिश के माध्यम से या दूसरी वो ऐसे तैयार करते हैं आप अपने उसके स्नातक रूप में अच्छे बना करके तो मैं जो इन अपनी संस्थाओं की रूपरेखा रखता हूं मैंने कहा मानव निर्माण सबसे मुख्य है और हमने इसके चार विभाग बना रखे हैं बाल्यावस्था से ही विद्वान बनाना महर्षि दान की तरह आदर्श ये एक है फिर उसका दूसरा भाग जो बीस वर्ष की अवस्था की दस कक्षा वाले हैं लगभग वो दूसरा वर्ग है व्याकरण आदि पढ़ाओ भाषा विज्ञान और योगाभ्यास भी सिखाते रहो वो दूसरा वर्ग तैयार फिर ऊंचे स्तर में दर्शन और योग की विशेष विद्यालय दर्शन महाविद्यालय और चौथा सारे गृहस्थ आश्रमियों को जो सेवानिवृत्त हो गए पचास साठ वर्ष की अवस्था में उनको पर आश्रम में तैयार करना चाहिए योग प्रशिक्षण एक महर्षि के ग्रंथ और दर्शन कुछ कुछ वेद का भाग और कुछ संस्कृत भाषा तो वो प्रचार के रूप में कितना कार्य कर सकते हैं उसी के आधार पर हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी कर सकते हैं निर्माणों के आधार उसी आधार पर हम विपक्ष में प्रचार कर सकते हैं जैसे विदेशी लोग अपना अपना प्रचार खूब करते हैं वैसे हम प्रचार कर सकते हैं उसी आधार पर जो हमारे पदों पर इन पर जो तनाव होते हैं उस शैली से चलने में सिर्फ तनाव को अधिकारों के ऊपर जो झगड़े होते हैं उनको दूर किया जा सकता है इसमें योगाभ्यास विशेष काम करता है उसमें पदों का धन का प्रलोभन नहीं रोकता व्यक्ति को पदों के लिए निरता व्यक्ति को उसमें प्रांतीयवाद नहीं होता उसमें कोई जातिवाद का फुट नहीं होता उसमें योगाभ्यास इस परंपरा को उड़ती परंपरा को समाप्त करता है तो इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए एक भाग एक अपने अधिकारी जो बैठे हैं उनको किस किस रूप में कैसे कैसे कार्य करने चाहिए और बाधाएं क्या आ सकती हैं और जिन बाधाओं को लेकर के हम कभी विचलित न हो जाएं उनमें किसी प्रकार का घबराहट और किसी प्रकार का परित्याग करने की विचारधाराएं आ जाती है क्यों इस माहौल से ऐसे हजारों लोग है बात आते ही सोचने लग जाते हैं क्यों माहौल से अपने आनंद से रहो तो ये कोई ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है हम तो अपने आप को बनाएंगे और उलझने की बात नहीं होने देंगे अपना कार्य करते जाएंगे संगठन भी बनाते जाएंगे ये ढंग उसमें है कार्य करने का अकेला सा जाके खड़ा हो जाना मैं तो अपना आप कर लेता हूं मेरा गुजारा इसी हो जाए ये कोई ऊंचे स्तर की बातें नहीं है अपने को तैयार करना है और दूसरे को भी तैयार करना है मिलकर रहने की पद्धति रखनी है समाज में आर्य समाज का निर्माण इसलिए किया गया समाज का रूप लेकर के वो आर्य तीन सभाएं बनाई किसी ने है जी धर्मार्य सभा और राजार्य सभा और विद्यार्य सभा तीन बनाई तीन सभाएं चलेंगी तो ये तीन विभाग संभाले जाएंगे ये योजना ऐसी होती है सोचने का ढंग ऐसे रखना चाहिए तो आज अधिक समय जानबूझ के लिया गया है और आप यदि ऐसे सोचना आरंभ करेंगे आपको विचार ना आ गया ये बातें जो जो सुनाई जाती हैं वो ठीक आपने यदि ले ली तो ये हो नहीं सकता आप अपने स्तर को ऊंचा न बना सके उच्च कोटि के विद्वान न बन सके आप योगी न बन सके आप राष्ट्र को ऊंचा न उठा सके ये नहीं हो सकता या नहीं हो या नहीं इतना सुनाया गया सुनाया गया नहीं सिखाया जाता है या नहीं है जी तो उसमें आप न्यूनता ने छोड़ना अब सावधान रहिए अपने आजकल के लिए उस प्रक्रिया को याद रखते हैं हम आप जैसे खुला दरवाजा छोड़ के सो गए इधर भी खुला उधर भी खुला आप याद रखना आजकल मार काट इतनी चलती है आतंकवादी कहीं कच्छाधारी है और कहीं कोई है उनसे कोई मतलब नहीं है धार्मिक या कुछ है इसलिए मैं सभी संस्थाओं में गुरुकुल में सावधान करता हूं होती है ऐसी घटना असावधानी से अधिक होती है अब सुरेश जी थे ना इंजीनियर कितने श्रद्धालु व्यक्ति हैं और उनके घर पर घटना पिछले उसमें हुई ए, खिड़की के माध्यम से या कहीं न कहीं उन्होंने सुराख निकाल या कच्छाधारी होते हैं ना जो टोड़ का आता है आक्रमण और वो असावधानी के कारण तो घुस पाए अंदर भी तो कैसे घुसते जी अच्छी तरह बंद कर देते तो अंदर घुस गए कितनी मार काट की उनके पिताजी को मार दिया और दूसरे को इतना बेहोश बना दिया कई दिनों तक पता ही नहीं चला उनको हम कहां पड़े ये प्राय घटना चलती देश में विदेश उसके आधार पर कम से कम बहुत सा आक्रमण झट रुकता है पता भी रहता है ये व्यक्ति संगठित है साधारण स्तर वाले आक्रमण नहीं करते बहुत ऊंचे स्तर पर करने वाले की बात छोड़िए तो ये भाग भी स्थिति के अनुसार हमारे लिए आप में से लाठी चलाना कौन कौन जानते हैं सीखते आप जानते आप सिखाते नहीं औरों को व्यायाम के काल में आधा घंटा पंद्रह मिनट जिसको नहीं आती उनको प्रतिदिन अथवा एक दिन ही उनको लाठी का कैसे चलाते वो सिखाना व्यायाम भी होता है अपनी रक्षा भी होती है और व्यक्ति के अंदर साहस आ जाता है नहीं समझे आप है जी मैं तो लाठी रखता हूं ना लाठी से व्यायाम भी करते थे हम व्यायाम घुमाने में बहुत व्यायाम होता है लाठी के कई हाथ घुमाने ना बहुत व्यायाम होता पसीना आ जाता है थोड़ी देर ठीक है और कहीं कुत्ता सामने आ जाता कहीं जंगल में गए तो आक्रमण भेड़िए ने कर दिया हमारे ऊपर तो वो ऐसी ऐसी स्थिति में भी अपनी रक्षा कर लेता है या नहीं एक घटना सुनाता हूं मैं एक बार वो विदेशी सांड होता है भयंकर गौओं के साथ मिला जुला आ रहा था मध्य रात में मैं वहां आश्रम से घूमने के लिए चला उस ओर से गौएं आ रही थी वो उनके बीच में मिला हुआ आ रहा था मुझे विचार ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ सांड ये ऐसा है मारेगा या ये करेगा <laughs> वो जैसे मेरे सामने आया और एकदम यूं खड़ा हो गया तगड़ा मोटा मैंने कहा ये तो मारेगा नहीं क्या किया मेरी लाठी थी मोटी अब तो पतली है मेरी उठा लेगा कोई मोटी लाठी पतली रखता हूं ना अब जैसे वो ऐसे तैयार हुआ था मैंने उसके जोर से एक मारी नाक पर थोड़ा सा घबरा के रुक गया फिर तैयारी करके आया खूब जोर से इतना मोटा तगड़ा जैसे तैयारी करके आया भाग करके ऊंचाई पर चढ़ गया उसकी टक्कर उस दीवार के तक रह गई मैं जाता वहां तक नहीं पहुंची जैसे वो टक्कर मारने आ तो मुझको तो नहीं लगी नहीं तो समेट देता मुझे मुझे एक बीमारी के नाम पर ऊपर खड़ा गई दो की खा से उपचार से जा गया है जी नहीं समझे तो अपनी रक्षा का भाग है सुरक्षित रहना आज कहीं कोई सुरक्षित नहीं राजा महाराजा जैसी चीजों को थोड़ी देर में खत्म कर देते हैं <laughs> ये प्रतिदिन की घटना है ये नहीं रहना चाहिए दरवाजे खुले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है हवा तो उनमें से भी जा सकती है आपने ये नहीं माना यहां कौन चटेगा यहां खड़ा हो गया एक व्यक्ति एक व्यक्ति खड़ा होगा उसके कंधे पर दूसरा खड़ा होगा यहां घुस जाएगा अंदर घुस जाएगा नहीं घुस जाएगा नहीं मानते आप इसको है जी हमने प्रधान जी से कह करके ये वो दरवाजा था ना ऊपर नीचे वाला वहां तो बंद करने लग गए ना ऊपर नीचे से कोई आ जा नहीं सकता वहां तो दरवाजा लगने लग गया ठीक है ना पर यहां दरवाजा नहीं होने से चढ़ने वाला यहां से झट चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा नहीं माता ये कोई ऐसी दीवार नहीं है यहां चढ़ा नहीं जा सकता और आप दरवाजे खुले करके सो रहे हो और मार काट करके भाग जाएगा बताओ मतलब क्या करोगे ठीक है अब विराम समाधनी विदुर्गन धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी वाले साधनों में से एक संस्कृत भाषा है जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानता है समझता है अच्छे प्रकार से ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ता है पढ़ाता है फिर अपनी योग्यता संस्कृत भाषा की वेद मंत्रों को समझने की बना लेता है वह व्यक्ति अपना लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति जो है उसको सरलता से कर लेता है जो व्यक्ति इस प्रकार से संस्कृत भाषा नहीं जानता नहीं समझता नहीं पढ़ता पढ़ाता और इसी कृत ग्रंथों को नहीं जानता फिर वेदों के मंत्रों के अर्थ नहीं समझता उसके लिए ईश्वर प्राप्ति ईश्वर साक्षात्कार बहुत कठिन होता है इस वर्तमान काल में आप संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं तो इस बात पर ध्यान दें क्या आप पूरा परिश्रम कर रहे हैं अथवा कम करते हैं हां जी आप बोलेंगे पूरा परिश्रम करते हैं आप संस्कृत भाषा को सीखने लिखने पढ़ने का इस क्षेत्र में परिश्रम न्यून रहता है हाँ। आप बोलिए कम करता हूं स्वामी जी अच्छा हाँ जी आप बोलो पूरा परिश्रम नहीं करते कुछ कमी है आनंद जी करता अच्छी मात्रा में हूँ लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करता आप बोलेंगे पूरा प्रयास नहीं है हाँ कम करता हूँ हाँ जी और कौन कौन है उदय जी न्यूनता बन जाएगी अच्छा तो इस न्यूनता को आप कब हटा देंगे लंबा काल लगाएंगे या आज कल मई हटा देंगे जब व्यक्ति को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता तो वह ये आधार बना के बोलता है या एक मिश करता है कि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है ये बहाने बनाता रहता है और जब पढ़ाने वाला होता है तो उसका मूल्य उसके सामने कुछ नहीं हो पढ़ा देता है कोई बात नहीं ऐसा प्राय होता है या नहीं होता तो अब अपने सुमेर प्रसाद जी आपको पढ़ाते हैं परिश्रम करते हैं उन्होंने योजना बनाई अब आप उसका जो लाभ उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहे मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ आप में से ये रचनानुवाद कौमदी पुस्तक का पहला दूसरा तीसरा भाग इस तीनों भागों को कौन कौन ब्रह्मचारी पढ़ा सकते हैं इस ओर से बोलेंगे कितने को पढ़ा सकते हैं आप प्रथम आप आप शायद प्रथम भाग को पढ़ा और ये आप प्रथम भाग को कुछ पढ़ा सकता हूँ और भाग मैंने स्वयं पढ़े नहीं है इसलिए दूसरों को हाँ। प्रथम दो भाग को पढ़ा सकता हूँ आनंद जी आप प्रथम भाग को आप हाँ जी वरुण जी पहला और दूसरे का आधा गलत पड़ा अब आप ये नहीं मानते कि हमारी कितनी कमजोरी है निर्बलता है जब तक व्यक्ति अपने दोष का अनुभव नहीं करता उसके प्रतिकार के लिए उत्सुक नहीं होता उसका दोष दूर नहीं होता कभी अब आप वैसे ही बैठे रहिए दस वर्ष में भी इतनी योग्यता रहेगी संस्कृत जो आज है लगभग और परिश्रम करें तो आप थोड़े ही काल में इन तीनों भागों को पढ़ा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे फिर तो वही व्यक्ति उस भाषा का बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है तो जब सूर्य प्रसाद जी नहीं आए थे या नहीं रहते तब आप कुछ पढ़ाते इन भागों को या नहीं पढ़ाते नहीं मुझे पाठ इसका दिया नहीं गया मैंने अभी बीच में मुझे एक पाठ दिया गया था वर्णोच्चारण शिक्षा का हाँ हाँ तब मैंने इन लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया बाकी मुझे इसका पाठ दिया नहीं गया अच्छा आपने लिया नहीं या दिया नहीं या क्या रहा वहाँ आचार्य जी ही स्वयं बोलते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि आप योग दर्शन पढ़ाएंगे आप न्याय दर्शन पढ़ाएंगे हम्म। तो जिसको जो सौंप देते हैं वही हुए अच्छा आप ये नहीं कह सकते कि यदि किसी को संस्कृत भाषा पढ़ने की आवश्यकता हो तो मैं समझ दे सकता हूं मैंने ये बोला सभी को भूल के रखा किसी से कुछ भी पूछना हो मुझसे संस्कृत में व्याकरण है हम्म। मैं हमेशा ही बता अगर फिर भी लाभ नहीं उठाते आप तो पूछते भी हैं स्वामी जी लोग बीच बीच में कोई बात कठिन आती है तो ये लोग आते हैं ये क्या पूछना हुआ एक व्यक्ति पुस्तक लेता को पढ़ता है और जो नहीं आती वही पंक्ति लगाता जाता है वो देखता है कोई पढ़ने वाला मेरे सामने बैठेगा तो इस पंक्ति का क्या अर्थ करूंगा ऐसे देखता है प्रत्येक पंक्ति को वो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व समझता है कि मैं दूसरों को ये चीज अच्छी प्रकार पढ़ाऊं स्वयं जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा है जी एक बात दूसरी उसको जान करके फिर दूसरे के जनाने उसके पश्चात उससे संपत्त कोई भी व्यक्ति परीक्षा लेना चाहे तो उसमें उत्तीर्ण होने की कितनी बात होगी कौन बोलेगा आप बोलो तो संस्कृत भाषा में योग्यता बनाने की तीव्र इच्छा कोई भी विषय नहीं तो एक संस्कृत तो एक उदाहरण है पहले आपने योजना बनाई संस्कृत भाषा को जितना भी जान सकता हूं जहां तक मैं पहुंच सकता हूं उतना मैं जानूंगा तीव्र इच्छा अपनी नहीं होगी उसके अनुरूप फिर वो परिश्रम नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर वो क्या सोचता है मैं स्वयं इस भाषा को जानूंगा और फिर औरों को पढ़ाऊंगा जनाऊंगा ये उसकी तीव्र इच्छा होती है दूसरी फिर इस स्थिति क्यों इस अवस्था को भी वह प्राप्त करना चाहता है कोई भी मेरी पढ़ी हुई बातों को मेरे पढ़ी हुई पुस्तकों को मौखिक लिखित रूप में जो परीक्षा लेना चाहे तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं सौ के सौ अंक लाऊं तब वो व्यक्ति ऐसे प्रगति करता है अब स्वयं तीव्र भूख जिज्ञासा नहीं तो वह क्यों सीखेगा उस भाषा को आप सोचेंगे कि ऋषियों ने लिखा है इसको पढ़ना पढ़ाना अंग उपांगों को वेदों को उनकी वाणी पर पूरा विश्वास है कि हम कृत कृत्य हो जाएंगे हमको भले ही कुछ पता नहीं हो तो व्यक्ति पूरा परिश्रम करता उसके ऊपर आपने सुना देखा हो अपने भारत के दक्षिण भाग के जो प्रांत है जैसे आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है कर्नाटक है ये है इनमें इन प्रांतों में अब भी ऐसी परंपराएं हैं कि पूरे के पूरे ये ये यजुर्वेदी या द्विवेदी या चतुर्वेदी आदि वो द्विवेदी है ये सामवेदी है ये अथर्वेदी या परिवार है वो छोटे छोटे बालकों को ही उनको रटाते हैं कंठस्थ करवाते हैं और कंठस्थ करवा के वो स्वर होते हैं दात अनुदात स्वरित उनको भी याद करवाते हैं आप कल्पना करें और वो पूरा का पूरा वेद याद या किसी को दो किसी को तीन कोई तो हो सकता है अब का मुझे पता नहीं चारों का भी कंठस्थ करने वाला व्यक्ति और एक व्यक्ति थे वो 25 वर्ष की अवस्था तक पूरा यजुर्वेद कंठस्थ किया उसने अब कोई मंत्र पूछो आप ये मंत्र कहां पर है वो तत्काल बताएगा यहां पर है इस अध्याय में इतनी संख्या है <clears throat> इतना याद है और उनके मन में एक बात है जो इनको पढ़ता है याद करता है वो स्वर्ग में चला जाता है वो सफल हो जाता वो यही दिमाग काम करता चाहे अर्थ आए न आए वो सफल हो जाता छोटे छोटे बालक कैसे रटते और उनमें से अर्थ को जानने वाला कोई एक आध कोई इना जना कोई मिलेगा अर्थ को नहीं जानते अब बताइए आप अर्थ को भी समझ सकते हैं पढ़ा पढ़ सकते हैं सभी आपका कोई परिश्रम नहीं उनको देखते हुए क्या परिश्रम दिल्ली में सम्मेलन हुआ था वेद सम्मेलन नाम था क्या था वो इनके अलग अलग केंद्र बने हुए थे ये अथर्वेदी है ये ऋग्वेदी है ये फलाना है अलग अलग बना रखे थे विभाग उसमें उस वेद वाले रहते थे उसमें उस वाले जो हम जैसे देखने गए तो ये कौन से हैं ये कौन से हैं आपको क्या याद है आपको ओ, आप अपने पाठ करते थे बैठे बैठे वहीं आप अपने केंद्रों में और इसको इतना याद है इसको इतना याद है मैंने कहा अर्थ कितना किसको याद है कि अर्थ वाला तो ढूंढ लेते भाई किसी को है भी या नहीं अर्थ याद बड़ा बड़ी अवस्था का तो इनको कुछ आता है कितना परिश्रम करते हैं वेद को याद करना मंत्रों को याद करना तो एक बात है पुरुष के उद्दात अनुदात सुरित इनको याद करना प्रत्येक अक्षर में या तो उद्दात है या अनुदात है या सुरित है <laughs> बताओ कैसे याद करेगा कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा का ज्ञाता होने पर भी विद्वान होने पर भी यदि वो वैदिक परंपरा को नहीं जानता वैदिक रीति से नहीं सोचता ऋषियों की शुद्ध परंपरा में मंत्रों का अर्थ कैसे किया जाता है दर्शनों में कौन सा सिद्धांत और वो शुष्क की परंपरा में छट जाता है उसमें बाधा खड़ी होती है वो नितांत भ्रांत व्यक्ति पड़ा रहता सिद्धांतों के बीच भ्रांतियां क्यों होंगी तो उसका ईश्वर कैसा है निराधार बिना सिर पैर का ईश्वर है वेद को तो रट डाला उसने संस्कृत भाषा पर बहुत अधिकार है व्याकरण आदि में पर आत्मा का क्या स्वरूप है उल्टा उल्टा सीधा बताता है मुक्ति का क्या स्वरूप है उल्टा सीधा बताता है भाषा और विशुद्ध वैदिक रीति जो ऋषियों ने मंत्रों की व्याख्या की है और वो बताते हैं उसी प्रकार से व्यक्ति इनको पढ़ता पढ़ाता तो वो व्यक्ति औरों को भी अपने जैसे बना देता पढ़ाने में संस्कृत भाषा दर्शन निरुक्त वेद आपको यदि अब तो परीक्षा तो नहीं देते होंगे स्वाध्याय के रूप में चलते हैं प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत ये जो वेदों के ऐसे आध्यात्मिक हैं ब्रह्मचर्य सूक्त जैसे हैं ऐसे ऐसे हैं ना अध्याय प्रत्येक कक्षा के साथ साथ नीचे से ऊपर तक कुछ अध्याय जोड़ दिए जाए तो कैसा रहेगा नहीं समझ में आया जैसे दर्शनों की परीक्षा देते हैं आप मौखिक और लिखित ऐसे उन वेद के अध्यायों का पढ़ना पढ़ाना और उनकी परीक्षा भी देना कैसा रहेगा क्यों जी बोलो या ये कहोगे ये भार पड़ गया हमारे ऊपर कैसा रहेगा बताओ तो हाँ जी बोलो जी अरे तो विचार करके हम्म, आचार्य जी हैं अपने उपाध्याय जी हैं इनके साथ जो विशिष्ट विशेष अध्याय है वो कक्षा के अनुसार प्रारंभ में कम फिर आगे अगले अध्याय फिर ऐसे अथवा दो स्थिति पहली कक्षा में जो पढ़े वो पढ़ लिए मान फिर अगली में फिर दूसरे अध्याय ले लिए फिर उससे अगली फिर तीसरे अध्याय ले ली ऐसे उससे वेद के विषय में ज्ञान वेद की व्याख्या और वेद के सिद्धांत दिमाग में आए तो आप इच्छुक होके कहेंगे आचार्य जी से या, या क्या नीचे से लेकर कक्षा के अनुसार पहली दूसरी तीसरी आदि में ऐसे अध्याय लिए जाए और उन अध्यायों को पढ़ाया जाए उन अध्यायों की मौखिक लिखित परीक्षा दी जाए आपको ये कहा था कि आप जैसे दस लकार हैं उनमें प्रारंभ में एक आत्मनीय पद एक परसमीय पद धातु को लेके दस लकारों का रूप चलाना लिखना आना अभ्यास कर लेंगे तो संस्कार बनेगा जब भी कभी प्रयोग आएगा वेद में दर्शनों में कहीं जो भी जब जब आएंगे प्रयोग पता चल जाएगा इस लकार का प्रयोग है बोलने में आपसे जैसे मैं संस्कृत में वार्तालाप करने लग जाऊं तो कौन कौन बोल, बोलेंगे आप में से कौन बोलेगा बताओ आनंद जी क्यों नहीं बोलते आप चुप बैठे हैं यो नहीं एक विषय को छेड़ूंगा मैं हाँ हाँ तो जैसे अब बोलूंगा मैं आपके सामने हाँ। वैदिक सिद्धांत के के पदार्थ अनादय सन्ति त्रया पदार्थ के के थे आत्मा परमात्मा प्रकृति से तेषाम् अनादित्वे किं कारणम् तेषां त्रीणि कारणानि न विद्यन्ते हम्म। कानि कानि उपादान कारणं हाँ। निमित्त कारणं हम्म। साधन कारणं एते हम्म। कदापि न उत्पन्ना ये ये पि केऽपि पदार्था सन्ति लोके सर्वे उत्पन्ना सन्ति एते न उत्पन्ना इति कहेतु एतेषाम् त्रीणि कारणानि न विद्यन्ते सर्वेषां पदार्थानां कारणानि भवन्ति हाँ। एतस्मात् कारणात् एव जायते तर्हि भवान् किम् उदाहरणं प्रदास्यति एतेषां सिद्ध्यर्थं यथा वयं कुम्भकारस्य गृहे पश्यामः हाँ। सः घटं निर्मापयति हाँ। तो घटस्य निमित्तकारणं सः स्वयमेव भवति कुम्भकारः साधारणकारणमपि भवति आकाश वेग इत्यादिकम् आम् हाँ। उपादानकारणं मृत्पिण्डं भवति हाँ। एतस्मात् जायते यस्य त्रीणि कारणानि भवन्ति हाँ। यस्य भवेत् भवेयु तद् अनादि न भवति अपि तु आदित्वेन भवति आदि भवति तस्य उत्पन्नत्वं भवति अत्र उत्पन्नत्वं न आर्यसमाजस्य नियमे उक्तं सर्वेषां पदार्थानाम् आदिमू परमेश्वर परमेश्वरमस्ति इति निमित्तकारणत्वेन उक्तमस्ति तत् मूलम् निमित्तकारणमस्ति ईश्वर जीवस्य मूलं नास्ति ईश्वरः जीवस्य मूलं तादृशमस्ति यादृक् अस्ति तु मूलम् कीदृशं मूलमस्ति सम्मुखनिमित्तकारणमस्ति जीवात्मनः निमित्तं कारणम् ईश्वरः ईश्वर कारणमस्ति सर्वेषां पदार्थानां कारणं जीवात्मनपि कारणमस्ति किम् जीवात्मा तावत् न अस्ति यावत् मृत् पिण्डादिषु मित् तावत् तो नास्ति यावत् अस्ति तद् ज्ञापयतु कति अस्ति तर्हि तावत् तो नास्ति यावत् अस्ति तद् ज्ञापयतु जीवा या भवति स ईश्वरम विहाय के मते कर्तुम न शक्यते तत्त असामर्थ्यम असामर्थ्यम असामर्थ्यम अस्ति परंतु एवं ज्ञापयतु तस्य भी तो भगवान कथयति तस्य भी निमित्त कारणम अस्ति ईश्वर है निमित्त कारणम भगवान तर्हि पूर्वं प्रतिज्ञा पूर्व में निमित्त कारणमस्ति इति अधुना उक्त निमित्त कारणं नास्ति

पुनः कथयेत् कुतेन वदति कथयेत् वदति वदतु कथं यदा कश्चित् कथयेत् कि ईश्वरः निराकार निराकारो अस्ति किन्तु पश्चात् पुनः कोऽपि खंडन को याद सकते हैं प्रथम खंडन को याद यदा शब्दस्य हाँ। हाँ। हम्म। अस्ति कोऽपि शब्दः अनित्यः अस्ति प्रयत्न अनन्तरम् उत्पन्नो भवति एतस्मात् कारणात् हाँ। पुनः कोऽपि तस्य खण्डनं कुर्यात् प्रयत्न अनन्तरं तु अभिव्यक्तिः भवति अभिव्यक्ति नहीं होती प्रयत्नांतर हाँ पुनः भावता शब्द शब्द तो नित्य अभिवर्त हम तो सह एवं खंडनम होती सा प्रतिज्ञां का कथितवान्ति हाँ। नित्या अस्ति अस्ति तस्मात् अन्य का प्रवक्षति भवान् वक्तुम् अर्हे न वा जानपुर्या हम्म। हम्म। हम्म। ईश्वर तो तो तो निराकार पुनः तस्य पूर्वपक्षिणा खण्डनं भवेत् यदीश्वर तु साकार अस्ति पुनः खण्डनात्मकः सः हाँ। स्वकीय प्रतिज्ञां कथयति को उक्तवान् निराकार अस्ति ईश्वर तु साकार एव भवान् प्रवक्ष्यति अस्तुतरीयं ज्ञापयतु जीवात्मनः मुक्तिविषये भवान् किं जानाति मोक्षम संप्राप्त जीवात्मन जन्म भवती न वा पुनः आगछति न आगछति एकस्मिन् कालपर्यन्तं न आगच्छति हम्म। शरीरे कति कालपर्यन्तं न आगच्छति इकतीस नील दश खर्व चालीस अरब हाँ। तत्र किं प्रमाणं पुनरागच्छति तस्य शब्दप्रमाणं विद्यते शब्दाप्रकाशे स्वामी जानंद सरस्वती लिखितमस्ति किं लिखितं यत् जीवात्मनः सर्वदा एव मोक्षः न भवति हम्म। निश्चितकालपर्यन्तम् एव मोक्षः भवति तर्हि ईश्वरः पुनर् आवृत्तिं न कुर्यात् जीवात्मनः सर्वदा अर्थमेव मोक्षम मोक्षमत्तं जीवात्मानं संस्थापय कावानास्ति मोक्षार्थे यानि कर्माणि कृतवन कृतवान जीवात्मा शांत सन्ति हाँ। शांत कर्म कर्माणाम अनंत फल कर्माणाम वक्ष्यति वा कर्मणाम कर्मणाम हाँ। अनंत फलम न भवे ईश्वरे का क्षितिः अस्ति का न्यूनता वर्तते अनन्तम् अनन्तः आनन्द अनन्तम् ज्ञानम् अनन्तम् बलम् रिक्त से कहानी सर्वदार्थी में मुक्ति में परेषेत जीवात्मानम तस्य की कापि न हानि किन्तु स न्यायकारी वर्तते हाँ। तस्मात् तावते फलम स ददाति यावत कर्म कुरियाम विशेष महाभाग है भगवान प्रवक्षति संस्कृत भाषया <laughs> यदि एवं भवन्तः जासं न कुर्युतरे न प्रवक्तुं शक्ता न प्रवक्ष्यन्ति बुद्धौ एवं परिध्याय अहं प्रवक्ष्यामि वार्तालापं करिष्यामि शास्त्रार्थं वा करिष्यामि पुनः तथा तदा स व्यक्ति स व्यक्ति वा सा व्यक्ति <laughs> सदक्ती व साव्यक्ती सव्यक्ती भविष्यति या व्यक्ति भविष्यति कथम व्यक्ति स्त्रीलिंग पुल्लिङ्ग वा तर्हि तभी साव्यक्ति भविष्यति अस्तु तस्मिन् समये मया उक्तं जीवात्मनः कारणम् अस्ति ईश्वरः Hmm. तत्र यत् आर्यसमाजस्य नियमे यत् कथितमस्ति hmm. तेन जायते सर्वेषां जलपदार्थानाम् ईश्वरः कारणं मूलकारणं चेतनपदार्थः अस् प्रकृतेः मूलकारणमस्ति ईश्वर अस्ति निमित्तकारणम् प्रकृतिः सर्वेषां निर्मितानां पदार्थानां वारं वारं प्रतिज्ञां विहाय अन्यां प्रतिज्ञां मनसि तत्स्पष्टमस्ति कथितुं किञ्चित् असमर्थो अस्ति ईश्वर से ईश्वरस्य जीवस्य च प्रकृतेश्च हाँ। एतेषां निमित्तकारणं न भवति उपादानकारणमपि न भवति आदानकारणमपि न तो भवद्भिः भवद्भिः सिद्धान्तः तो अधुना उक्तः पूर्वं तु तो बारम्बार प्रतिज्ञां परिवृत्य प्राक् एवं समीचीनम् अवदिष्टमस्तु हाँ। अभूवम् पुनः यदा भवान् एतादृशम् अवदित् पुनः किञ्चित् ताकि त्रुटि जाती हाँ। अध होना उपासना विषय आर्य भाषया या संस्कृत भाषया कया भाषया वदामि संस्कृत भाषया ज्ञास्यन्ति <laughs> अब दूसरे लोग भी थोड़ा सा सुन लेंगे क्या है हाँ जी एक व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति दैनिक जीवन में विविध कार्यों को करता हुआ वह ईश्वर का परित्याग कर देता है उसकी उपासना नहीं करता ईश्वर को भूल जाता एक सदी एक विशिष्ट योगाभ्यासी व्यक्ति पूरे दैनिक जीवन में ईश्वर की उपासना करता हुआ अपने कार्यों को करता रहता ये विशुद्ध आदर्श जीवन है क्या समझ में आया आपको सांसारिक व्यक्ति का जीवन कैसा है वह कैसे क्या करता है पूरे दैनिक जीवन में अपने दैनिक कार्यों को जो भी व्यवसाय कार्यों को करता हुआ वो ईश्वर को भूल जाता है ईश्वर को छोड़ देता है ईश्वर की उपासना नहीं करता अथवा ये कहिए कार्यों को करता हुआ ईश्वर की उपासना नहीं करता सांसारिक पदार्थों की उपासना करता है हाँ जी उदय जी क्या समझ में आया व्यक्ति अपने क्रिया व्यवहारों में ईश्वर को भूला रहता है इसके विपरीत आध्यात्म व्यक्ति सभी क्रिया को करते हुए ईश्वर को याद रखता हाँ जी आप बोलेंगे लौकिक व्यक्ति अपने दिन भर के क्रियाकलापों को करते हुए ईश्वर को छोड़े रहता है और प्रकृति की उपासना करता रहता है ये बात ये स्थिति है और ये जो योगाभ्यासी व्यक्ति क्या करता है वह ईश्वर को पकड़े रखता है उसकी उपासना में निरंतर लगा रहता है सांसारिक पदार्थों को उपयोग लेता रहता है किंतु उपासना ईश्वर की चलती है आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है ये बड़ा कठिन हो गया ये तो आ, या तो उपासना ही करो या संसार के कार्य करो ऐसा प्रतीत नहीं होता हाँ जी बोलिए ऐसा नहीं होता सरल लगता है हाँ जी बोलिए हो सकता है स्वामी जी हो सकता है तो आप करते हैं प्रयास करता हूँ प्रयास करता हूँ और अब ये स्थिति संपादित कैसे होती है ये जो मैं बतला रहा हूं पूरे विश्व को उसने प्रलभत बनाया योगाभ्यास ने प्रलवत बनाया और प्रलयवत बनाने के पश्चात संसार का प्रभाव समाप्त हो गया संसार का मूल्य सामर्थ्य शक्ति भी कुंठित हो गई उसको प्रभावित नहीं करते संसार के पदार्थ और संसार को प्रलयवत बनाने से परमात्मा का उसके ऊपर विशेष प्रभाव आ गया ईश्वर की उपासना में वो रहता हुआ संसार के पदार्थों का प्रलवत अवस्था में रखता है जब कभी असावधानी होती है तो वो चित्र दिखाई देते हैं संसार के जैसे तो ईश्वर की उपासना भंग होने लगती है वो फिर उन चित्रों को या आकृतियों को फिर प्रलवत बना देता है फिर बना देता फिर वही वही स्थिति फिर आ जाती है ईश्वर को व्यापक और इस विश्व को व्याप्ति एक बात प्रलवत बनाना अनित्य समझना ये स्थिति दूसरी बात दूसरा स्तर संसार के पदार्थ उनको अशुद्ध देखना ईश्वर को शुद्ध देखना तीसरी बात संसार के पदार्थों में दुख देखना और ईश्वर में नित्य आनंद देखना ईश्वर को चेतन मानना समझना और संसार में जितने पदार्थ में तत्व से लेके मैंने उनको जड़ मानना ये दिमाग बुद्धि की बनी रहती है कुछ समझ में आया कैसे करता है वो इसको सतत है नित्य देखता है और ईश्वर को नित्य देखता है फिर जितने भी प्रकृति के बने पदार्थ सत्वर तम से शरीर की दृष्टि से उसको और उस और यम नियम से विरुद्ध आचरण को आचरण को भी पदार्थों को भी अशुद्ध देखता है ईश्वर को शुद्ध देखता है इनमें जो सुख है दुख मिश्रित परिणाम आदि के कारण उसको दुख रूप देखता है ईश्वर में नित्य सुख को देखता है इन पदार्थों को सबको जड़ देखता है और ईश्वर को चेतन देखता है तो अपनी स्थिति इस रूप में बनाए रखता है जब उसकी प्रवृत्ति होती है ना एक एक के प्रति एक के प्रति तो उसी हेतु से उसका खंडन करके अपनी स्थिति बनाता है यदि इसकी प्रवृत्ति होती है ये बड़े सुंदर पदार्थ है तो उसको अशुद्ध मान करके उसका निराकरण करता उसकी स्थिति बनाए रखता है यदि उसकी प्रवृत्ति होती है इनका सुख ग्रहण करूं तो उसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित देख करके वहां से अपनी प्रवृत्ति को हटा देता ये प्रयोग उसके होते रहते समझ में आ गया ये सतत होते रहेंगे व्यवहार में जो ऐसे प्रयोग नहीं करता तो वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता कि दिन भर वो ईश्वर की उपासना में रहे और कार्यों का संपादन करता रहे हाँ स्वामी जी आप ये जो प्रलय अवस्था कह रहे हैं हम्म। ये उपासना काल में कह रहे हैं या दैनिक जीवन सुनो पहले तो सिद्धांत से सिद्ध करो समझ में आ गया और अब दूसरी बात सुन लो दैनिक जीवन में कार्य काल तो स्थिति है प्रकृति की वो दोनों को जब पक्की अवस्था होती है परिपक्व में दोनों को देखता है एक और देखता है सत्वर जतम नित्य है एक और देखता है काय रूप जितना है ये निश्चित रूपेण परलय की अवस्था जो बनाई थी उसने परलय में क्या अवस्था होती है उसको देखता रहता है वस्तु का जब उपयोग करेंगे हाँ हाँ जैसे हम दूध पी रहे या हम गाय के पास खड़े हुए हम्म, हम्म। तो अब वस्तु तो सामने है हाँ उसको मैं बताता हूं आप अनुमान प्रमाण को जानते हैं अनुमान प्रमाण से चार पैर वाली गौ को प्रलय नहीं बदला जा सकता अनुमान प्रमाण से आप प्रयोग भी करेंगे हम उसका अनुमान प्रमाण से क्या हम अपने शरीर को अन्य सिद्ध नहीं कर सकते नहीं अलग से बैठकर तो कर सकते लेकिन उपयोग कर रहे हो नहीं नहीं नहीं आप समझे नहीं अलग से सिद्ध हो जाएगा पहले फिर वो व्यक्ति जितना निपुण होता है कि उस स्थिति को बनाया भी रखता है कार्य भी समझता है उसको कारण के रूप को भी समझता है साथ साथ कारण रूप स्थिति क्या है कार्य रूप स्थिति है इसकी और सुन लो ए, मैं आपकी आकृति को देख रहा हूं कल्पना कीजिए जब उसको जब आवश्यकता पड़ी कि इन मजे आनंद जी को बुलाना उसकी आकृति ऐसी है तो तो आकृति को ले लेगा फिर शेष काल मचा देगा तो हाँ आकृति को हटा देगा ज्ञानी होगी कि इसको परेशान करके इसको बोलना है मैंने तो तब तो उसको पहचानना पड़ेगा तो उतनी देर के लिए तो वक्त छूटी ना हाँ मैं बताता हूं ना सुन लो एक बात और सुन लो जो प्रलयत अवस्था है ना उसको बुला रहे आज उसमें इतनी तीव्रता से होती है आकृति पहचान लेना प्रलय की स्थिति को बनाए रखना तेजी से होती है दोनों इतनी तीव्रता से होती है दोनों आकृति को आ आतिकर्ती में और फिर वही प्रलय मतलब तत्काल बना बना डालेगा उसमें देर लगने की बात नहीं है वहां पर आकृति देखते ही फिर प्रलवत मतलब तो अवस्था बना डालेगा <laughs> इतनी तेजी से होती है दूसरी तो अभी हम सबको आप प्रलय रूप में देखते भी जा रहे हैं और बातचीत भी करते जा रहे हैं हाँ मैं बताता हूं आप अब मैं ये चाहता हूं आपकी आकृति एक आकृति होती है विशेष विशेष रूपरेखा नहीं देखना साधारण आकृति देख लीजिए और मैं ये कहूंगा ये सारे के सारे इस अवस्था वाले हैं यद्यपि बहुत तीव्रता से ये चीजें होती है भाई ये इनकी आकृति भी कुछ दिखे और फिर वैसी की वैसी बनाई रखा हूं जैसे आपको भी बताता हूं नया नया व्यक्ति जो योगाभ्यास करता है कि प्रलवत बनाता है आंख खोलता है तो प्रलवत अवस्था नहीं रहती और क्या करता है मार्ग में चला मार्ग में थोड़ा सा देख लिया फिर इतने इतनी दूर तक कुछ नहीं देखा उसने ये नए व्यक्ति के प्रयोग होते हैं अब वो आंख खोले रखता है तो और टूट जाती है तो एक बार देख के फिर जमा लेता है वो आंखें उसकी ऐसे ऐसे होती है ना थोड़ा सा देख लिया फिर अपनी स्थिति को बनाए रखा उसने फिर देख लिया थोड़ा सा ये नया व्यक्ति तो ऐसे अभ्यास करता है अच्छा जब बार बार वर्षों तक वो अभ्यास करता रहता है तब उसको वो इतनी तेजी से कर लेता है व्यापार को भी और प्रलभत अवस्था बनाए रखने को भी आप ये कहेंगे कि ईश्वर की उपासना में भी तो यही बात है समस्या जो आप बोल रहे नहीं है क्या झलकती है नहीं पर वो इतना अभ्यासी हो गया वो व्यक्ति ईश्वर का उपासक इतना अभ्यासी हो गया उपासना करता रहता है और कार्य भी करता रहता है कोई नया ज्ञान विज्ञान उपलब्ध नहीं कर रहा वो अपना नया नवीन वो बिल्कुल परिपक्व हो गया ईश्वर की उपासना का ज्ञान वो तो उसका प्रयोग करता चला जा रहा ईश्वर के सानिध्य में उपस्थित है वो कोई नए ज्ञान की उपलब्धि नहीं कर रहा नया नया नया नया नहीं जाने हुए का प्रयोग करता है और ए, कभी कभी ईश्वर की उपासना की ओर हड़का बनाता है बाज जोर देता है तो और जब बाहर हल्कापन होता है तो ईश्वर की उपासना में देखिए जोर दे देता है सामान्यतः तो बैठा है साधारणतया तो चला जा रहा है तो ईश्वर की उपासना में जोर अधिक दे देगा और नई चीज कुछ कहनी हो नई चीज कुछ बतानी हो जैसे वहीं ईश्वर की उपासना में हल्कापन आ जाएगा अलम